आसन की स्थिति बनाने के लिए कोई एक आपके अनुकूल आसन पर बैठ जाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए मिला करके ऊपर की तरफ खींचिए कमर को सीधा करें पूरा खींचें कमर को सीधा रखते हुए अब हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए अपनी कमर की स्थिति देखें हाथों को ऊपर करने पर जैसी कमर की पीठ की स्थिति बनी उसकी पहचान रखते हुए उसी स्थिति में कमर और पीठ को बनाए रखें हाथों को अपनी इच्छा के अनुसार गोदी में रख सकते हैं एक हथेली पे एक हथेली अथवा दोनों हाथों को घुटने पे रख सकते हैं हथेलियों को नीचे रखते हुए अथवा हथेलियों को ऊपर रखते हुए अंगुष्ठ और तर्जनी को मिलाकर धीरे से हाथों को रख लीजिए अब अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें शारीरिक आसन की स्थिति का निरीक्षण करें यदि शरीर में कहीं असहजता प्रतीत हो रही हो अनुकूल न हो ऐसी स्थिति में उस अंग को स्थिति को थोड़ा हिला डुला कर व्यवस्थित कर लें अपने आप में संतुष्ट हो लें कि मेरा आसन ठीक लग गया है अब पैर से लेके सिर तक शरीर का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते चलें और एक एक अंग को शिथिल करते जाएं दोनों पंजे पूरा पाद तल टखने से नीचे का भाग ढीला छोड़ दें ऊपर की ओर बढ़ें घुटने से नीचे का भाग पिंडली ढीली छोड़ दें इसी प्रकार ऊपर की तरफ बढ़े घुटने दोनों जांघें और कूल्हों को भी ढीला छोड़ दें ऊपर की ओर कमर और पेडू के भाग को ढीला छोड़ें कमर को सीधा रखते हुए अतिरिक्त तनाव को ढीला कर दें ऊपर पीठ की तरफ कंधों को ढीला छोड़ें दोनों हाथों को शिथिल कर दें गर्दन का भाग अपने चेहरे पर केंद्रित हों चेहरे की मांसपेशियों को ढीला करते प्रसन्न मुद्रा नेत्र कोमलता से बंद रहेंगे ललाट की मांसपेशियों को ढीला करते हैं सिर का बालों का भाग संपूर्ण क्षेत्र शिथिल करते हैं अब एक बार समग्र रूप से शरीर की स्थिति देख लें और इस स्थिति की एक पहचान बना लें आप आज के ध्यान के लिए संकल्प करें मैं अपनी आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अपने जीवन को शांत और सुखी बनाने के लिए ध्यान में बैठा हूं ध्यान के संपूर्ण काल में मैं जागरूकता से पूरी निष्ठा से ध्यान को करूंगा और एक सफल ध्यान को करके उठूंगा संकल्प अब अपने श्वास पर केंद्रित होइए मन से आते जाते श्वास को देखें मन को दोनों नथुनों पर केंद्रित रखते हुए आते जाते श्वास का अनुभव करें श्वास आ रहा है श्वास जा रहा है अब श्वास को लंबा करिए धीरे धीरे श्वास भरें लंबा श्वास लें पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे लंबा करते हुए श्वास को छोड़ें पूरा श्वास बाहर निकालें धीरे धीरे श्वास को भरें और छोड़ें दीर्घ श्वसन श्वास लेने की गति समान रहे बिना झटके के धीमा लंबा समान गति का श्वास लें और समान गति से छोड़ते जाएं मन को दोनों नथुनों पर लगाए रखें जागरूकता से श्वास अंदर आ रहा है और जागरूकता के साथ नियंत्रित नियमित संयमित श्वास को मैं छोड़ रहा हूं अनुभूति बनाएं धीमा लंबा लयबद्ध श्वास प्रश्वास आप रुकेंगे अगला चरण प्राणायाम का गहरा श्वास भरें और कुछ वेग से तेजी से संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दें श्वास को बाहर ही रोके रखें मूल बंध लगाएं अर्थात मल द्वार को ऊपर संकुचित कर लें श्वास को बाहर ही रोके रखें यथा सामर्थ्य रोककर जब थोड़ी घबराहट होने लगे तो श्वास को अंदर ले लें और मूल बंद को छोड़ दें पूरा श्वास लेने के बाद एक तो सामान्य श्वास ले लें छोड़ दें पुनः दूसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम श्वास को पूरा भर के तेजी से बाहर छोड़ दें बाहर ही रोके रखें मूल बंध लगाएं यथा सामर्थ्य रोके रखें थोड़ी घबराहट होने पर अवश्य रोके रखें और फिर सामर्थ्य पूर्ण होने के बाद श्वास को बिना झटके के अंदर ले लें और मूलपन छोड़ दें एक तो सामान्य श्वास प्रश्वास इसी प्रकार तीसरा बाह्य प्राणायाम कर लें पूर्ण होने पर कुछ क्षण के लिए अपने मन को देखें मन का रुकाव टिकाव मन की स्थिरता प्राणायाम से कितनी पढ़ी है प्राणायाम से आई मन की स्थिरता को अनुभव करें प्रत्याहार का संपादन के लिए उद्यत है मन का संबंध बाह्य इंद्रियों से हट चुका है यदि बाहर का विषय इंद्रिय के संपर्क में आए उसकी अनुभूति भी हो तो भी उसे छोड़ करके मन को अंदर ही केंद्रित रखना है जो विषय इंद्रिय के संपर्क में आया है कोई ध्वनि अथवा कोई स्पर्श उस पर विचार श्रृंखला प्रारंभ नहीं करनी है अंतर्मुखी होते हुए आगे की प्रक्रिया करेंगे अब धारणा मन को शरीर के एक भाग पर केंद्रित करना है हृदय प्रदेश अथवा कंठ प्रदेश अथवा दोनों भौहों के बीच का भाग भ्रू मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग अपनी रुचि अभ्यास के अनुसार किसी एक स्थान पर मन को टिकाने का निश्चय कर लें मन को अंदर ही अंदर उस स्थान पर होने वाली संवेदनाओं पर केंद्रित करें धारणा स्थल की संवेदना को पकड़ें शीतलता या उष्णता भारीपन या हल्कापन कोई दबाव कोई सरसराहट कोई धड़कन स्फुरण धारणा स्थल की संवेदनाओं को अंदर ही अंदर मन से अनुभव करें केवल धारणा स्थल की संवेदनाएं अनुभूति अब आगे मन को इसी स्थान पर टिकाए रखते हुए के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करेंगे धारणा स्थल की संवेदनाओं को अनुभव करने से मन एक स्थान पर टिक चुका है उन संवेदनाओं को छोड़ते हुए किंतु मन को उसी स्थान पर टिकाए रखते हुए ध्यान का अभ्यास अभी आपको तीन ओम के उच्चारण में मौन रहना है मेरी धुन को पहले सुन लें और समझ में आने पर उसके साथ साथ धीरे धीरे उच्चारण करना चाहें तो कर सकते हैं मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखें वहीं परमपिता परमात्मा के मुख्य निचनाम ओम का उच्चारण ओ ओ भावना हे ओम आप सर्वव्यापक हैं आप कण कण में विद्यमान हैं आप सर्वत्र फैले हुए हैं मेरे आसपास और मेरे अंदर आत्मा के अंदर भी आप विद्यमान हैं ईश्वर को सर्वव्यापक रखते हुए विचारते हुए ओम का उच्चारण ओम के साथ साथ सर्वव्यापक परमात्मा की भावना ओ की भावना हे ओ आप सर्वव्यापक हैं आप मेरे सामने भी हैं मेरे दाएं बाएं भी हैं मेरे पीछे भी हैं ऊपर और नीचे भी हैं मेरे अंदर भी आप विद्यमान हैं आप मेरे निकट चारों ओर विद्यमान हैं मेरे से दूर दूर भी छहों दिशाओं में आप विद्यमान हैं दूर दूर तक सर्वत्र आप विद्यमान हैं आपकी विद्यमानता में मैं आपका पुत्र आपकी प्राप्ति के लिए अपने अंतकरण को पवित्र बलवान और एकाग्र बनाने के लिए ध्यान कर रहा हूं ओ मेरे स्वर के साथ मिला करके ओम का उच्चारण करना है सबके साथ अपने स्वर को मिलाते हुए प्रारंभ करना है और समाप्त करना है मन में सर्वव्यापक परमात्मा की भावना बनाए रखें ओ भावना मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए मानसिक ओम का जप और अर्थ की भावना यदि मन धारणा स्थल से हट गया हो तो धारणा स्थल पर लगा के फिर ओम का जप और अर्थ भावना यदि बीच में कोई दूसरा विषय विचार उठा लें तो तत्काल मन को धारणा स्थल पर लाकर पुनः जब प्रारंभ करते हैं सर्वव्यापक परमात्मा मेरे अत्यंत निकट विद्यमान है मेरे अंदर भी विद्यमान है परम पिता परमात्मा सतत मेरे निकट हैं मैं उनकी सन्निधि में बैठा हूं मानसिक ओम का जप और अर्थ की भावना अब रुकेंगे आगे का ध्यान करने से पूर्व यदि शरीर में कहीं कोई बाधा अनुभव हो रही हो तो थोड़ा शरीर को हिला डुला कर व्यवस्थित कर लें मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखें चेहरे पर यदि तनाव ले आए हों तो ढीला कर दें नेत्र कोमलता से बंद रहेंगे मन में प्रसन्नता का भाव रखते हुए गायत्री मंत्र के माध्यम से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हुए ध्यान का अभ्यास मेरे साथ साथ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं किंतु अपना स्वर और धुन मिलाते हुए सबके साथ साथ एक रूपता में उच्चारण करना है अर्थ की भावना अंदर ही अंदर बनाए रखें परमपिता परमात्मा से सर्वोच्च परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि की ज्ञान की प्रार्थना कामना करते रहेंगे ओ भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो मेरा स्वर्थ सुन करके फिर उसके अनुरूप बोले ओ भूर्भुव स्वा दुखियों के कष्ट हरता तू तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मा मार्ग पर चला तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को मार्ग पर चला ओ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धी यो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया परम पिता परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि की याचना हे प्रभु मुझे और अच्छी बुद्धि प्रदान करें मेरी बुद्धि शुद्ध हो मैं अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ विचारों को ही करूं मेरे ज्ञान का स्तर और ऊंचा हो जाए ज्ञान से अपने को शुद्ध बनाता हुआ मैं आपकी निकटता में और अधिक आ सकूं श्रेष्ठ और पवित्र बुद्धि की कामना प्रभो मेरे आध्यात्मिक जीवन की सफलता शुद्ध बुद्धि पर निर्भर है मेरे जीवन की सफलता मेरे जीवन की शांति मेरे जीवन की सहजता मेरे जीवन की निर्विकारता शुद्ध ज्ञान पर निर्भर है हे प्रभु मेरा ज्ञान शुद्ध होता जाए मेरा ज्ञान मेरी बुद्धि बढ़ती जाए आप रुकेंगे व्याख्यान के अंत में अपने अपने आज के ध्यान का अवलोकन करें आज के ध्यान में शारीरिक स्थिति कैसी रही शरीर की स्थिरता सहजता कैसी रही उपासना में कितनी जागरूकता रही मन की एकाग्रता कितनी रही कितने समय मन को अंदर ही रखा अब अपनी आज की उपासना के सर्वश्रेष्ठ क्षणों को स्मरण करें वे क्षण जिस समय सर्वाधिक एकाग्रता सर्वाधिक शांति सर्वाधिक ईश्वर की निकटता का अनुभव किया हो उस स्थिति का स्मरण करते हुए पुनः उस स्थिति में अपने को पहुंचा दें उस स्थिति का भली प्रकार अनुभव करें उस स्थिति की पहचान बनाए उपासना काल में ईश्वर की कृपा से और अपने प्रयत्न से साधक जो स्थिति बनाता है वह उसकी आंतरिक संपत्ति होती है जिस संपत्ति को आपने आज की उपासना में पाया है उसे अंदर संजोए रखते हुए दिन में विविध कार्यों को करना है जब जब दिन में सांसारिक विचार उठे तो अपनी अपनी उपासना की उस उच्च स्थिति का स्मरण करके पुनः अपने को सात्विक स्थिति में ले आए अब उसी आंतरिक स्थिति को बनाए रखते हुए हाथों की उंगलियों में थोड़ी गति प्रदान करें धीरे धीरे हाथ को उस स्थान से हटाएं उंगलियों को संकुचित कर लें खोल लें धीरे धीरे गति प्रदान करें दोनों हाथों को भिन्न स्थान पर ले लें अभी नेत्रों को बंद ही रखना है और ये घर्षण क्रिया अभी ना करें ध्यान से धीरे धीरे हमें बाहर आना है अंदर की स्थिति बनाए रखते हुए और नेत्रों को बंद रखते हुए पैर की दोनों उंगलियों में गति प्रदान करें धीरे धीरे उन्हें हिलाएं टखनों को धीरे धीरे हिलाएं और पैर को खोलते हुए धीरे से आसन परिवर्तित कर लें दोनों हाथों को पीछे की ओर टिकाते हुए थोड़ा सहारा लेते हुए पैरों को धीरे से खोल लें अन्य व्यक्ति के स्पर्श न होने पाए अंदर की स्थिति बनाए रखते हुए और नेत्रों को बंद रखते हुए ये करना है अब धीरे धीरे नेत्रों को थोड़ा सा खोलें दृष्टि नीचे की ओर रहेगी और संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं दोनों हाथों को अभिवादन मुद्रा में ले लें नेत्रों को एक बार फिर से बंद कर लें प्रार्थना के वाक्य एक बार मैं बोलूंगा और उसी के अनुरूप आप सब भी बोलें जो बोलना चाहते हैं वे बोल सकते हैं जो मौन रहना चाहते हैं वे मौन रहें प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बढ़े चले हम रुके न क्षण भी बढ़े चले हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा यह दृढ़ संकल्प हमारा ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा अपनी आंतरिक स्थिति को बनाए रखते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोल लें दृष्टि नीचे रखते हुए आसन प्राणायाम आदि के लिए आगे का कार्यक्रम 15 मिनट के बाद बाहर उद्यान में होगा जो सज्जन यहीं बैठ के कुछ काल और ध्यान में लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं ओम शब्द